गीता अ अठारह के श्लोक नंबर बासठ में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा वो परमेश्वर कौन है कहाँ है कैसा है जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन वशिष्ठ मुनि के चरणा लागा रामचंद्र अवतारा के रामचंद्र तिरभुवन का स्वामी गुरु बिन नहीं गुजारा खुद ये परमात्मा भी नो कहें गुरु बिन काम नहीं चाल लगा जब हमने किया तो फिर आगे कहते हैं सत्य अनंत कोट ब्रह्मंड के स्वामी मृत लोक में आया खुद बंदी छोड़ कबीर साहेब अर्जुनों ने भी नो कहे कि रामानंद कर्म कांड में उड़ जाओ से सो कैसे उड़ जाया उन्होंने भी गुरु पद मर्यादा बनाई रखनी पड़ी कि बिना गुरु के काम नहीं चलेगा ना ये सब नुगरे हो जाएंगे ना उन्हें कोई जरूरत नहीं गुरु की वो खुद परमात्मा थे लेकिन नुगरिया का उड़ा गुजारा नहीं सही ये मर्यादा बनाने के लिए रखे फिर गरीबदास जी आए उनको भी कबीर साहब ने दूसरा रूप बना करके अपना यानी कबीर रूप में आकर के नाम लेना पड़ा जब गरीबदास जी महाराज के हमारी मुक्ति हुई हमारे लिए कहा ये आपके लिए नहीं अपने लिए नहीं फिर गुरु बिना कितना दुख होश है कि जैसे गुरु विहीना पशु फिर वो दर दर धक्के खावे और भूख प्यास बई गर्मी सर्दी में कष्ट पर कष्ट उठावे और जब वो पशु किसा धनी का हो जाए सब चिंता मिट जाओ जैसे गऊ फिर है सुनी और उसका लठ भी लग गए कित फांसामा का जा कितब तारापा का उड़ जर पड़ जा उसका चोट लाग जा को लठ भी मार दे गर्मी में भी बाहर सर्दी में भी बाहर और फिर उसने कोई बांध ले देख कितना सुख हो गया उसके नार का फूस का पानी का गर्मी का सर्दी का उसके गोबर ने भी घेर का होगा उनका परिवार दे उसका चयन होगी हम बिना गुरु के नुआंडी पाके फिर अपनी खुशी में और इतने कष्ट पा रहे हैं पर समझ में नहीं आंदी बात के साचे ने सुख होगा और जो आज गुरु शरण में आ गए तो पूछ कर देखो ये कितने बैठे अपनी संगत और ये तो चौथा तीसरा हिस्सा भी मतलब दसवा हिस्सा भी नहीं आ पाई है क्योंकि कुछ काम का समय है और फिर उनके घर में जाकर पूछो जिस दिन से नाम लिया दिन पहुंचो कितना सुख है तो यहाँ कहते हैं जब वो पशु धनी का हो जा सब चिंता मिट जावे और बड़ भागी आव गुरु की शरण में जो जामन मरण मिटाता राम देवानंद मिले गुरु पूरे राम ना, नाम भजन लौ लागी असंग जन्म की बाट कठिन थी गुरु शरण में किस्मत जागी और ब्रह्म भेद और ईर्षा का राग ईर्षा का कोई ना मिलता त्यागी रामपाल वो है भागी जिसका हुआ पूरे गुरु तैनाता अब गुरु गुरु में फर्क है धनी धनी में फर्क है जिस प्रकार एक तय गौ बांध ले मेरे कैसा कमजोर सा और उसकी गां की तरह बढ़ जाता दोनों पीटता अगला ठाडा होता है अरे को मनमाने डिप्टी कमिश्नर की गांव या एसपी की किसी का बट भी जा गिने उसने लावगा पानी प्यावगा अगले खुट्टे बांध का होगा उड़ा चली गई थी चौखाना की तक हुआ वो तो कितना अंतर हो गया धनी में यानी गुरु में और वह हो जा राष्ट्रपति की तभी तो उसका को आंगड़ी करनी अभी को नहीं तो पूरे गुरु तक काम चलेगा नरे गुरुआ तो काम नहीं चलता महाराज ज्ञान दे गूंगे गुरु घने लंगड़े लोभी लाख साहेब से परिचय नहीं फिर वह बात बनावे साख वह शब्द भी गांव है बंदीश्वर महाराज कहते हैं कि भेख धरे भाग्य खरे लाल कपड़े पहन लिए ढाडी बढ़ा ली शरपत जटा रखा ली कान पड़वा लिए इन पाखंडा की प्रस्तुति नहीं हो प्राप्ति नहीं हो सकती और फिर अच्छी बाणी सीख ली शब्द सीख लिए सांझा लागेंगे तारा ठोकने और तड़के ती गा जाएंगे फिर न पूछ ले कबीर तो साहब के ऊपर पैदा हुए थे ना उसे माँ के पैदा हुए थे दुआ के क्यों जन्म गवा दिया बेचारे इतना जरूर शास्त्र का ज्ञान ही नहीं हुआ अपने इष्ट का भी तो यहां कहते हैं भेख दरें बागे फिर बहुत साखी है और जानत नहीं विवेक को खरकी जो रीक तो बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी है गधे की तरिया रड़ाए जाएंगे सारा दिन रात पर ज्ञान विशेष पूर्ण रूप ज्ञान नहीं होगा इतना मुक्ति लाभ उस जीव को नहीं हो सकता सच्चा ही अब बंदी छोड़ की महिमा गरीबदास जी आपको सुनाते हैं ये भाई आज आज का संबंधी छोड़कर यानी कल तो भोग लगावांगे एक डेढ़ एक घंटा सत्संग करेंगे फिर समापन भंडारा होगा और सबका शुक्रिया करेंगे और बहुत खासकर हम इस आश्रम वालों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि ये जो पैसा स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी ने यहाँ लगवाया अपने अनुयायियों से ये आज सफल हुआ अगर ऐसे समागम इसमें होते हैं तो यू पैसा लगा हुआ काम से अन्य तब इसका ईटा का कोई लाभ नहीं होगा जो उन्होंने पैसा लगवाया अगर ये ऐसे ताबंद रहा कोई संत समागम नहीं होते तो इसका पूर्ण लाभ वो जिन्होंने पैसा लगा वो भी नहीं पाते तो धन्य है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं विशेषकर कल करेंगे अब बंदी छोड़ के बारे में आपको जानकारी देते हैं दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई दाम ये माँ मेरी मैं तेरी पर ओ रही जय जयकार प्रेम की गंग बई हरी वही जग कार प्रेम की दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई दाम छोड़ानी अरे वहाँ जय जयकार प्रेम की अरे मो रही जय जयकार प्रेम की सतगुरु सतसंग इमामे मैं किया सत गुरु सत तेरी मेरे ओई रोम रोम जन कार साहेब की शरण गई हरी मेरे ओई रोम रोम जन लाल साहेब की शरण गई धाम छोड़ाई माँ मेरी मैं दाम छोड़ाई माँ मेरी दुर्लभ दुर्लभतयारि संत समा दुर्लभतयारि मत लग रही संतों की लार दर्शन कर खुश होई हरे माता लग रही संतों के लार दर्शन कर के खुश हो दाम दाम छोड़ानी मामेरी नारी माता

अमरत वाणी मेरी रही आरे वहाँ पर थी अमरत की पुआर आत्मा बिगड़ी आरे वहाँ पर थी अमरत की फुहार आत्मा बिगरई दाम छोड़ा माँ मेरी मैं गई दाम हरे वहाँ जय प्रेम की दास की माँ मेरी महिमा सोनी बंदी छोड़ की माँ मेरी अरे उनके लीला है में पार मुख से ना कही गई आए हाँ, उनके लीला है अपर में पार मुख से ना कही गई काम छोड़ाई माँ मेरी मैं गई काम छोड़ाई माँ मेरी मैं गई हरे वत जयकार प्रेम की हरे वत चरावण माँ मेरी सायब गौ चरावण साय गई हारे वहाँ पर मैं कबीर करता हमारे वहाँ पे आए कबीर करे तार दर्शन देख भक्ति गई धाम छोड़ानी माँ मेरी धाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई

सर जो न सर हेरी उनका होया छुटानिए मैं उद्धार आत्म कल्याण की बात लई हरे उनका होया छोड़िए मैं उदार आत्म कल्याण

हरे हरे नो योगेश्वर ममेरी वांगेरी नो योगेश्वर माँ मेरी वहाँ गई अरे वहाँ पर गई मस्त नाथ कर बेचा साहेब का दाम सही हरे पे गई मस्त नाथ कर बेचार साहेब का

मजीद मेरी वागरी गंगा जी भी गरी हरे उसने लिए सतह गुरु चरण जुहार रानी माँ की बज रही हरे उसने लिए सतह गुरु चरण जो आय रानी माँ की बज रही दाम छोड़ी माँ मेरी मई दाम छोड़ी मेरी मैं गई

डालदास वहाँ गए तेरे संग चाल की संता के लार जावण में नहीं हरे दिन संग चाल की संतों के लार जावण में आड़ नहीं काम छोड़ी मेरी मैं गई काम छोड़ाड़ी मेरी मैं गई हरे वहाँ पे हो रही जय जय गंगा भाई हरे वहाँ पे हो जय गोरी वाले माँ मेरी रे बोरियाले माँ मेरी वही हारे जिसने मोर ताज मान के न लाई वार काल की पाड़ी बई हरे कृष्ण मोर ते नाला वार काल की पाड़ी बई धाम छोड़ानी धाम छोड़ानी ममे मैं हमारे प्रेम की गंगा हमारे माँ हो रही कार प्रेम की आठ जो पढ़ कई मेरी मैं कौरी हाथ दौड़ कई मेरी मैं कौरी तुम विशालो से परिवार उमरिया रही आर तुम विशालो से परिवार उमरिया गट रही मेरी मैं गई गाम छोड़ानी मेरी मैं गई हरी माँ पे उड़ी जय में की गंगा भरी रामपाल दास भी माँ मेरी वहाँ गया रामपाल दास माँ वहाँ गया बिहारी वतन राम देवानंद संत सरदार नाम की बिखरई हरिवत मिल राम देवानंद संत सरदार नाम की बिखरई दाम छोड़ी मैं गई धाम छोड़ारी

सतगुरु बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा का अंश वर्णन है अंश यानी कुछ कुछ इसमें से बहुत सात आपने सुना दिया था हमने कि गौ चरण गए थे जब बंदी छोड़ कबीर साहब सतलोक से आकर इनको दर्शन देकर गए फिर अर्जुन सर्जन के बारे में भी हमने आपको बताया था कि वो चौसठ लाख शिष्य जब महाराज को निकम्मा समझकर चले गए अपने गुरु को वो दुष्ट आत्माएं जब उनके सो सो काम सरे जब तो वो भगवान था और एक लीला करके दिखा दी अब उनकी परीक्षा खातर जो कर दहान पछोड़ के देखा करें कुछ नहीं पाया छाज में एक छाज में पार पाए सब बार तो उस समय अर्जुन सर्जुन नाम के थोड़े से डटे थे वो भी अधिक गेगला था आधा कुंभ गुण था तो जब उनका पूर्ण रूप से मुक्ति जब हुई जब गरीब दास के रूप में महाराज प्रगट हुए कबीर साहब और वहां आकर नाम ले जब उनकी मुक्ति है अब हम आपको बताएंगे कि नौ योगेश्वरों के बारे में भी आप कथा सुन चुके हैं और मस्तनाथ जी के बारे में सच कथा है ये कि मस्तनाथ जी जिस प्रकार नौ योगेश्वर गए थे गरीबदास जी महाराज की महिमा का तो देखण खातर के युग सहक मिले विरास तो वहां मस्तनाथ भी पहुंचे कि मैं देखूं वैसे संत महिमा यानी जाति नहीं मानते परंतु वो उनको संत होने के नाते सिद्ध होने के नाते कोई उनका कोई पंथ नहीं समझा कि इनका कोई पंथ नहीं दिखता मैंने बिना पंथ के से बिना नाम के से तो अपनी सिद्धि से प्रभावित करने के लिए गए तो बंदी छोड़ अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा है सिद्धि वहां काम नहीं करा करती मस्तनाथ ने जाके पूछा कि गरीबदास कौन सा भाई सतगुरु महाराज कहने लगे इस दास को गरीबदास कहने से आओ नाथ जी बैठो आसन द्वार बैठे नहीं एक कहने लगे तेरा कौन सा पंथ है गरीबदास जी ने बोले जी मेरा पंथ तो आज अनादि है आज सनातन पंथ हमारा जानत ना ही ये संसारा पंथों से ती पंथ अलहदा और इन बेखा बीच पड़ा है बैदा इनका रास्ता ठीक नहीं से नाथ जी अपनी सिद्धि का सहारा लेकर एक मुगदर जो कि पहलवान ठाया करते पहले चालीस किलो का चालीस शेर का मण का और एक हाथ से उठाकर आसमान में भगा दिया सौ डेढ़ सौ फुट ऊंचा और वहीं रोक दिया सिद्धि तय कहने लगे इसको उतार कर दे दे और नो पता चला कि यहाँ नाथ जी आए हुए हैं तो दुनिया वह गांव इकट्ठा हो गया कभी गरीबदास जी महाराज कहें नाथ जी स्वामी जी बैठो देखो ये तो बच्चा के खेल है जादूगरा के आत्म कल्याण का मार्ग कुछ और से पर नहीं माने अपने बड़े लड़, छोटे बड़े से छोटे लड़के दूसरे नंबर के बड़ा जयतराम जी इनका लड़का था दूसरे तुर्ती राम जी तुर्ती राम के सर पर हाथ रखकर ने बोले बेटा स्वामी जी का नाथ जी का दे दिया मुगदर तार का ऐसे हाथ करके वहीं से वो मुगदर उतार कर उनके चरणाम रख दिया नास्ती क्रोधित हो गए छुडानी में आग लगा दी साबत गांव गवास बैरागिया के घर में पश्चिम की तरफ आग लगा दी मैं बोला आपकी छुडानी को जला दूंगा बंदी छोड़ कहने लगे संत गांव जलाया नहीं करते बसाया करें आप कृपा करो ये काम ना करो मैं बोला तेरी नाक काट के जाऊंगा आगे कोई ऐसी मुंह नहीं ठावेगा अच्छा तारी मर्जी सो नाथ जी कहने लगे इस सिद्धि तय आप एक कुआ खोद दो जिससे ताकि भाई यहाँ पानी हो जा लोगा ने और आपने सारी उम्र याद रखेंगे नाथ जी आए थे एक सिद्धि तो कुआ बना गया न बोला इन बातों का काम नहीं चलता ही पता चल जाए महाराज ने क्या किया अपने ऐसे हाथ घुमा कर गरीबदास दासियों ने ऐसे कर दिया स्थल गोर में आकर के वो आग मठ में लग जाती है अब नाथ जी ने देखा महाराज कहने लगे ये अग्नि बुझगी नाथ जी अपनी ख्यास करो उन्होंने अपनी समाधि स्टोक ध्यान से देखा दृष्टि प्रसार कर कि यहाँ आग बुझ चुकी है वहां लग गई तो खूब कोशिश की बुझाने की नहीं बुझी जब स्वामी नाथ जी महाराज जी तो कहने लगे गरीबदास जी आते हैं कि महाराज जी थोड़ा चाड़ा पाट जाएगा तेरा कितने साधु अपने सुल्फा पिए गौबंद रिह नष्ट हो जाएगा आप इसको ऐसा मत करो महाराज कहने लगे देखो जी आप सिद्ध हो अपनी कोशिश कर लो नोबला जी सारी कर ली आप जल्दी करो नष्ट हो जाएगा तो महाराज जी ने ऐसे करके हाथ किया था इसी के तालाब बहुत बड़ा जोड़ था वहां पर गड्ढी की तरफ उसमें घेर दिया तो उसमें प्रमाण था कि उस जोड़ में पानी नहीं डटा करता एक दो फुट पड़ा रहा करता बाकी जब सूख जा तो इस प्रकार नाथ जी को शिक्षा दी देखो जी अच्छे काम करो कोई परमार्थ का काम करो आप ऐसे नहीं खसम जाए उस दिन के बाद केवल एक नाथ मस्त नाथ जी जिन्होंने परमार्थ के काम करे यहाँ पर ये आश्रम बनवाया यहाँ पर कॉलेज बनवा रखा है जगह जगह पे इनके बहुत उस दिन के बाद महाराज के आशीर्वाद से इनका काम बहुत शुभ कर्म का चल पड़ा उन्होंने फिर किसी को दुख नहीं दिया इस प्रकार प्रसन्न नहीं गए तो इस प्रकार कहे मस्तनाथ भी वहां गए मस्तनाथ जी ने वहां पर जैसा कि आप में देखते बहुत अच्छे आश्रम बनवा रखा है कॉलेज भी आंखों का भी बच्चों का भी बहुत अच्छी तरह सिस्टम रखा उस दिन के बाद इन्होंने सारे शुभ कर्म किए तो इस प्रकार फिर उन्होंने पूर्ण ज्ञान हुआ तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि गंगा जी भी गंगा जी का प्रकरण आपको हमने सुना रखा है अब हम बताएंगे कि शिव दयालदास नाम के गरीबदासी संत हुए उनको अपने इष्ट पर इतना विश्वास हो गया क्योंकि महाराज कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए दर दर फिर अज्ञानी और जोगी जोग संपूर्ण जिसका जो मांगना पी वह पानी करें शुरू इस प्रकार दयालदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहब को सिर पर लेकर और देश मतलब सारे हिंदुस्तान में घुमा करते थे उनके साथ लगभग डेढ़ सौ से लेकर पांच सौ तक की मंडली हो जाया करती थी भक्तों की संतों की और वो बाहर जाकर बैठ जाया करते थे किसी नगर से बाहर वहां अपने आप साधुओं को भोजन मिल जाया करता वो कोई बनाकर नहीं खाया करते थे बंदी छोड़ महाराज में ये शक्ति है कि जो उनके आश्रित हो गया उनको अपने आप व्यवस्था करते हैं और फिर जो मांगते फिरते हैं कहते हैं वो ईश्वर तत्व से परिचित नहीं है परमात्मा की शक्ति से परिचित नहीं जो मांग कर खाते हैं उनके बारे में सतगुरु महाराज ने बहुत उनको लताड़ा है कि जो मांग कर खाते हैं वो संत नहीं एक समय की बात है कि दयालदास जी कलकत्ते के पास बाहर बैठे हुए थे उनकी मंडली में एक ऐसा भगत हो लिया जिसकी संत हो लिया जिसके पास 400-500 रुपए थे और उनको रोटी नहीं मिली तीन जून उग जाती है तो उसके दयाल जी और दयालदास जी अपने इष्ट गरीब दास जी का प्रार्थना करते हैं एकांत में जाकर के रोते हैं कि महाराज मेरे से कौन सी गलती होगी जो कि हमें भोजन नहीं मिल रहा रात्रि में जब वो सोता है तो स्वप्न में गरीबदास जी दर्शन देते हैं कि भाई तुम अपना भोजन साथ ले रहे हो एक साधु के पास पैसे हैं या तो उसको मंडली से निकाल दो और ना उसका भंडारा कर लो सुबह उठते उसने सबको बुला लिया कि जिसके पास पैसे हैं वो यहां रख दे अगर पैसे नहीं रखे तो मंडली छोड़कर चला दा अगर नहीं दो रखोगे तो हम आपको झाड़ा लिया जाओगे सबकी तलाशी ली जाएगी वो साधु खड़ा हो जाता है और कहता मैं नहीं दू पांच सौ रुपये मेरे पास और नहीं दू नहीं दे तो स्वामी जी आप जाइए यहां से ताकि हम भूखे ना मरे इसी प्रकार वो चल पड़ता है आध घंटे घंटे के बाद सारे कलकत्ते में ये शोर मच जाता है कि तीन दिन के दो तीन जून होगी साधु भूखे बैठे हैं मंदिर छोड़ने रूप बनाया दूसरे उन्हीं के किसी आदमी का रुक के मारता फिर केरा तीन दिन हो तीन जून हो क्योंकि साधुआ की थारा केरा होगा तुम क्या के सेठ सो इतनी सुनते बैठ गया मैं कोई लाडू जलेबी पूरी कचौरी जो भी मिला ले लेकर चल पड़े और एक घंटे के अंदर अंदर साधुओं को छिका दिया ऐसे बंदी छोड़ महाराज गिरदास जी कहते हैं कि जो मांगे सो भरुआ कही दर दर फिर अज्ञानी और जोगी जोग संपूर्ण जिसका तू मांग ना पीवे पाड़ अब उस संत की कमाई सच्ची है जिसने नो कहना नहीं पड़ा पानी का गिलास लाओ आप देखते हो हम तो अपने का कटपुंजिया से है और वह है कि जहां जावा हलवे का था तो प्रसाद और सुथरी रोटी आगे तागे बल्कि भगत जन ने कह दिया आज हमारा नंबर होना चाहिए है हाँ, और उठते ही भगत जन जो है ना सारी व्यवस्था तैयार रखे हैं तो महाराज कहते हैं जो हमारा हंस हो जाए उसने मांगने की जरूरत नहीं भाई आप कर दूंगा सारी व्यवस्था पर रही है मर्यादा में विधि से रहा करो जाप जपो अपना सतमार्ग दर्शन करो अच्छी तरह जीवों को सुलझा कर सतमार्ग लगाओ तो यहाँ कहते हैं नट ग्रीब नट प्रेरणा कांदर सांझी सासी मांगत है बठियारे जाकी तारी लागी तटमव मोती देव उधारे आंगन तो वह करें जो नट प्रेरणा कांदर सांसी ये मांग्या कर संतान का काम आंगन का नहीं है बिन ही मांगे देत चिदानंद छाजन भोजन लोई छप्पन भोग संयोग सुरत तय आव नई रसोई नौके एक बार बैठ के विचार कर तू के चाहिए सतना और तेरे को ना मिला तो मन बता आपको सतवता हमारे जितने भी संत हैं कोई किसी से नो नहीं कहेगा फलानी चीज मुझे दे दे अपने आप उनके पास पड़ी रहती है तो ये सतगुरु की भक्ति की और पूर्ण इष्ट की कृपा का ही प्रमाण है फिर यहां बताया गरीब आप आवे रतन बरोबर मांग्या आवे लोहा लक्षण नहीं जोग के जोगी जा बचा बन खोहा आप आवे वो रतन बरोबर मांग के लावो लोहा और ये जोगी जोग के लक्षण नहीं जाकर गुफा मर बण में जा बैठा ये संता के लक्षण है कहते हैं गरीब मोक्ष मुक्ति को मुंड मुंडाया रहा वार का वारे अपना प्राण थिर नहीं की ना किसको पार उतारे जब वो इतनी साधना कर रहा है कुआ मौन बैठे से कुआ कुछ करे से कभी व्रत रखे से वो इतना ही खुद पार नहीं हो लिया तो तुम उस पर बाट देखो अपना प्राण थिर नहीं की ना उसकी इतनी ज्योत नहीं हो लिया और फिर किसने पार उतारे और फिर वो नाम भी देता है अब अपने विचार कीजिए बंदी छोड़ की वाणी पर गरीब जी ने कह टूका कारण फिर कुकरा सत्तर घर फिर आवे ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा बिरद लजावे है जिस प्रकार कुत्ता एक रोटी खातर और टूक के लिए सत्तर घर में घूम आवे उसी प्रकार एक साधु घूम रहा है तो नो के लक्षण साधु के नहीं गरीब मन हट कर के तन हट कर है मनसा माही डोले जाकी सुरत शब्द सो लागी दूसर से क्या बोले है गृह बे इंद्री पांचों इंद्री कसकर बांध और छठा मन भाई जाके राजा पराधीन है तीन लोक ठकुराई ग्रीव तंतु बीच लगी है तारी मन बुद्धि अगम अगाहा रत्न सिंधु ने नौ में जल का कुंभ काल सुराहा गृह जिनके ज्ञान नहीं है सो मांगे रे भाई चावल चून इकट्ठा करके फिर ब्याज बधावे जाही जिनको ज्ञान नहीं है क्या तू मांग के और फिर उसने बेच के चावल चूना ने और फिर पैसा ब्याज पे दे दे से तुमने ज्ञान नहीं के गधे की जूनी में जाओगे दुनिया की मांग के पैसे को गरीब चार चार वेद की चाह मिटी है सटगुण ज्ञान जगावे अजप्पा जाप जप के जोगी ही गृह द्वारे नहीं जावे ही गृह ग्रह द्वारे ग्रह बहुत है मांगी भी ना खावे कोट पाप का मूल तहा है तो को कौन छुटावे है ईश्वर पद से मरहम नाही अब कहते मांगने वाले को कितना पाप लगे कि जो परमात्मा से जुड़ी हुई भक्तात्माएं नहीं से उनके भोजन खाण भी पाप लगता है नरक में जाता है अब हम अपने सेवका का रोटी उसका भोजन पाते हैं जो हमारे उपदेशी हो चुके हैं ईश्वर के कहते हैं ईश्वर पद से मरम नाही गरही आन उपासी जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी संत ने अन उपदेशी बिना भगवान का नाम लिए हुए जीव का रोटी भी नहीं खानी चाहिए वो भी उसका भोग भोगना पड़ता है ग्रीव डूम बाट बैसा सांसी का पैसा जाके आवे बिन ही बुझा जात्र सातल नीच धान जो खावे नीच धान यानी ऐसे नीचों का जो परमात्मा का नाम नहीं लेते डूम भाट बैसा सांसी इनका जो पैसा खा, धन अन्न खाता है वो नरक में जाता है ग्रीवनट पेरणा कांजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे कसाई डाकोत बराबर सब बनिया के आवे नट पेरणा कांजर सासी और नो कहीं डाकोत कसाई के समान से लोग तो मांग के और फिर बणिया के बेचाओ तो ये मतलब अच्छा काम नहीं भाई गरीब राजर सातल गरीब अब वो नहीं कहते उन उन कहीं जाओ जो राम नाम नहीं लगे हुए सतगुरु की शरण नहीं उन तक किससे कहीं जाओ जैसे गरीब ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा इनका द्वार न जावे जोगी जोजत इंद्री सूचा कि इनका भी रोटी नहीं खाओ जो राम नाम पर नहीं लाग संत के लक्षण बताओ फिर उसको भोग भोगना पड़ता है एक हलाई सैंस कसाई अब कैसे बुरे हैं ये एक हाड़ी एक अड़ाई में बेरानी कितने के कसाइया जितना पाप कर देता है एक अड़ाई में आप देखोगे कितने जीव मारा है और फिर वो उनको पक्षी खाते हैं जब वो ऊपर आ जाते हैं एक हड़ाई सैंस कसाई एक हजार कसाई पलड़ा बेस बजावे कोठे माही नाज घाल के कोरा काल मनावे इन चारों जातियों को बताते हैं शत्रु महाराज सतगुरु जी कहते बनिया और ब्राह्मण अक्षत्रिय शूद्र अब अक्षत्री ले लिया के अपना हड़बा अवश्य और इतने जीव मार दे से फिर बढ़िया ले लिया कि पैसे ने कट्ठा उसे सारे दाणिया ने अपने कोठे में गर्द कर देगा और फिर ने कहा भगवान इनका काल पट जाना अच्छा व्यक्त है तो महाराज कहते हैं कोठे माँ ही नाच गाल कर कोरा काल मनावे तो वो पाप पापी जीव होता है जो दूसरों के पाप करके अपने स्वार्थवश अपनी धन वर्दी करता है और फिर नो कैसा अगर रोटी खावे जो संत वो नरक में जाता है गरीब अक्षत्री के नो नहीं जाना चाहिए कैसे अक्षत्री के लत बकरे टूटे मारत है हिलवाना जोगी किसका मांगण जावे सब ही जात अलामा अक्षत्री नो का फिर सांझ न बकरे काट कर खाते दारू पीते ऐसे नीच का नो का रोटी खान का पाप नहीं लगता अंजन गिरव जोगी जंगम शेख सेवड़ा ब्राह्मण और सन्यासी गुजराती ले गण पितर ग्रह वही अकल बुदिना से धरा डका हो हाजर नाजर मोर रपैया पैसा ब्रह्मदंड से कर पवित्र है जैसे का तैसा गिर शिव साहेब का तप किया था मिली भगीरथ गंगा ऐसा समृत से ये सुनो शब्द पर श्रंगा कद नारद न जमात चलाई व्यास न टुकड़ा मांगा विश्वामित्र ज्ञानी वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी शब्द विहंग में जाग्या गिर सनक सनंदन संत कुमारा ब्रह्मपुत्र परवाना कहो कौन के टुकड़ा मांगा दीत अभय पद ज्ञाना तो इस प्रकार सतगुरु महाराज बताते हैं कि भाई जो मांग कर खावस है वो संत नहीं है और सतगुरु महाराज की शरण आने के बाद हमें पूर्ण लाभ मिल जाता है आप आके देखो और पूर्ण रूप से आपको मुक्ति का व्यवस्था बन जाएगी इसके बाद आपको भूरीवाणों का प्रकरण भी हमने सुना दिया कि उस मोदी नाम राम जाट के लड़के सुरते को गांव छुड़ाने में भूरी वालों ने गरीबदास जी की कृपा से जिंदा किया और आज तक जीव ऐसा वो सुरते सन्नौफ मौजी गांव छुडानी और ये छुडानी के आए हुए यहां पर कदे को सोचते हुए सट्टे मारे ये बंदी छोड़ की शक्ति इतनी है ये जो चावल सो कर दे भाई इसकी शरण में आकर देखो और कितने सुखी हमारे भगजन हैं और इस प्रकार फिर एक लड़की जो बहुत दुखी थी जितनी भी थी उनको पता चला कि छुडानी में जाने सुख खुश है वह अपनी माँ ने समझाने लगी कि तुम भी माँ हाथ जोड़कर कौन सो एक बार चालो उड़े और बहुत सुखी हो जाओगे बोल सतगुरुदेव की सत साहेब